सज्जनों सुरसरी नदी के किनारे पहुंचकर लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु नैया तो है परंतु खेवैया नहीं भगवान बोले कि जब नैया है तो खेवैया भी होगा इतने ही में केवट दिखाई दिया भगवान उससे बोले टुकलाना अपने नैया टुकलाना अपनी नैया हम तुरत ही पार जबैया के बटलाना अपने नैया केवट बोला क्षमा करो महा महाराज हमारी छोटी पुरानी नैया उड़ जावेगी पग पड़ते ही बाप करूं चाहे दैया मैं नाम स्वामी नैया यही हमारी पालन हारे यही पार लगैया तुम ही बताओ कहाँ पा उड़ जो गई ये नैया मैना नाम स्वामी नैया गौतम नारी श्राप की मारी गौतम नारी श्राप की मारी तुम ही नाथ करैया तुम ही सबको पार लगावत तुम कब पार जबैया मैना नाम स्वामी मैया परंतु पहले अपनी चरण रज धो लेने दो नाथ तब संभव है चल सकूं पार तुम्हारे साथ भक्तनों और कोई उपाय भी न था भगवान चरण धुलवाकर ही पार पहुँचे वहाँ मजदूरी देने पर केवच बोला मैं तुम दोनों एक हैं एक हमारे काम फिर वापस में क्या प्रभु कुछ लेने का नाम आज क्या मैंने तुम्हें इस नदिया के पास कर देना तुम मुझे कभी भव सागर के पार सज्जनों भगवान श्री राम तथा तू कहकर आगे चल दिए